के मार्ग में जो आगे व्यक्ति की साधना चलती है वो बुद्धि के बल पर चलती है आप देखेंगे इसमें जो है यह साधना जो होती है वो शरीर से नहीं होती कर्मेंद्रियों से प्राण आदि से इनसे नहीं होती जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये साधना के मुख्य उपकरण यही है बाकी तो अगर वो करते हैं तो उसमें ज्ञान इंद्रिया भी काम करें अगर शरीर भी काम करे तो ये उसके सहायक अंग जरूर है लेकिन मुख्य साधना जो है वो मन से होती है बुद्धि से होती है चित्त से होती है और इनका कर्ता अहंकार जो है वो व्यक्ति उसी को करनी पड़ती है <clears throat> और ये तो साधन ही है इनसे साधना होती है और साध्य है आत्मा परमात्मा वो प्राप्ति होना है जिसको कि हम खो बैठे हैं वो साध्य है परमात्मा इसलिए <clears throat> ये बुद्धि अगर निर्मल बुद्धि है सशक्त बुद्धि है तो फिर व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना में कठिनाई नहीं पड़ती <clears throat> बुद्धि शक्ति प्रचंड बुद्धि प्रचंड शक्ति के माने बुद्धि भी हो तो प्रचंड हो प्रचंड के माने उद्दीप्त प्रदीप्त बुद्धि हो प्रज्वलित जो प्रकाशमान बुद्धि हो जिस बुद्धि में सब साफ साफ दिखाई दे ठीक ठीक समझ में आवे और फिर व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाए वर विज्ञान कठिन को दंडा और कहते हैं जो विज्ञान है वो कोदंड है कोदंड के माने धनुष अब और अस्त्रों में से धनुष आया वो आया अब धनुष क्या है कहते हैं विज्ञान <clears throat> विज्ञान क्या ये ज्ञान विज्ञान विज्ञान के माने परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में देखे <clears throat> साधना करता रहे धन के मार्ग पर चलता रहे और अपने हृदय में भी देखे कि परमात्मा विद्यमान है परमात्मा हमारी समस्त चित्तवृत्तियों का मनोवृत्तियों का अधिष्ठान है कूटस्थ के रूप में विद्यमान है बुद्धिवृत्तियां तो आती जाती रहती हैं लेकिन इनका आधार जो चैतन्य है वो कूटस्थ है वो सदा विद्यमान है <clears throat> उसका दर्शन करे उसका अनुभव करे हमारी समस्त वृत्तियों का साक्षी वही आत्मा परमात्मा है उस साक्षी का भी दर्शन करे वो आत्मस्वरूप है परमात्मा स्वरूप है ये हृदय विद्यमान है जो इनके दर्शन करता है बस वो जो है वो विज्ञानी है तो कहते हैं ये विज्ञान जो है वो कुदंड के समान है धनुष के समान है अब देखो धनुष का बाण से संबंध है धनुष क्या काम करता है कि बाण में शक्ति उत्पन्न करता है बाण वैसे एक बाण लो हाथ में और ऐसे करके फेंक दो हा? और फिर एक बाण को लेकर के धनुष पे चढ़ाओ डोरी को खींचो और खींच करके फिर उसको छोड़ो तो उसमें बाण में क्या आ जाएगा मोटे फोर्स आ गई फोर्स में वो ढलता हुआ बाण दूर तक चला जाएगा तो माने ये है बाण को शक्ति देने वाला जो है वो जैसे धनुष है इसी प्रकार से जो ये संग्राम हमारा जो जितना भी चल रहा है देवासुर संग्राम हमारे भीतर उसमें समस्त दैवी शक्तियों को बल देने वाला जो है वो ही विज्ञान ही है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान उसमें दृढ़ता के साथ स्थित रहें तो फिर देवी संपत्तियां प्रबल रहेंगी शक्तिशाली रहेंगी और समस्त विकार जितने मानसिक दोष हैं निशाचर हैं उन सबको ये विध्वंस कर देंगे अब आगे देखेंगे बाण क्या है अलग बताएंगे यहाँ कोदंड की बात कहते हैं <clears throat> लेकिन कोदंड होना चाहिए कठिन कठिन कोदंड के माना यह है कि ऐसा नहीं कि शत्रु ने एक बाण मारा हमारा धनुष ही कट के दो टुकड़े हो गया हुँ? हम्म? ऐसा ना हो माने स्टील का बना हुआ हो खूब मजबूत उधर से आकर के इसमें लगे तो बाढ़ लगे बाढ़ भले ही टूट जाए गिर जाए लेकिन कोदंड न टूटे <clears throat> माने संसार में माया जाल इतना फैला हुआ है कि नाना प्रकार के तर्क कुतर्क वितर्क सब आते रहते हैं <clears throat> लोगों के बुद्धि को नष्ट करते रहते हैं ज्ञान के ऊपर आघात करते रहते हैं व्यक्ति को जब दिख रहा है साक्षात दिख रहा है कि हमारी वृत्तियों का अधिष्ठान ये कूटस्थ विद्यमान है यही अपना स्वरूप है ये शांत स्वरूप आनंद स्वरूप है और उसमें हम दृढ़ता से स्थित है तो दुनिया का भरा कौन सा कुतर्क हमारे हमको विचलित कर सकता है मजबूती से माने विज्ञान के द्वारा अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करके उसी में दृढ़ता से टिके रहे विचलित न हो तब ये कोदंड जो है वो कठिन कोदंड हुआ एक विशेषण और लगाया बर विज्ञान कठिन कोदंडा बर के माने क्या हो गया अरे भाई विज्ञान तो विज्ञान हो गया विज्ञान मन परमात्मा ज्ञान साक्षात्कार परमात्मा का हो गया वही विज्ञान है अब और भी शक्ति आ गई शक्तिशाली हो गया कोई कहता है कोदंड के मानक है वो जो उसका डंडा है वो तो कोदंड है और जो वर लगा दिया ये वर उसकी डोरी है ज्ञान और विज्ञान ये भक्ति और विज्ञान दोनों होने चाहिए जैसे विज्ञान तो होगा डंडा भी उसके साथ में लगी भक्ति ये भक्ति उसकी प्रत्यंता है दोनों मिला सकते ये पूरा धनुष बनता है बिना भक्ति के विज्ञान अधूरा है और बिना विज्ञान के भक्ति अधूरी है जहाँ ये पूरे हो गए तब फिर तो शक्तिशाली हो गए भक्ति के माने जिस ज्ञान को हमने अपने हृदय में अंतर करने साक्षी आत्मा और परमात्मा के रूप में अनुभव किया अब तो उसमें कितनी प्रीति हो ब्रह्म से मिलाए मन उसी में टिके रहे उसी पर आश्रित रहे तो ये भक्ति हो गई हम्म। अभी इस प्रकार से कोदंड हो गया अब ये मजबूत हो गया अगर हम <clears throat> अपने आत्मज्ञान को भुलाते नहीं है भक्ति को छोड़ते नहीं है तो फिर हम उसमें करते रहे तो फिर संसार के कोई भी विघ्न बाधाएं हमको क्लेश नहीं पहुंचा सकते कोई भी दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है कोई भी अशांत हमको विचलित नहीं कर सकते सदा हम अपने आत्मज्ञान में स्थित है और उसी में भक्ति है आप कहते हैं अचल अच्छा, मन मन प्रवाह तो समाना अब धनुष के साथ में भाई एक कर्कश भी चाहिए और कर्कश में बाढ़ भी चाहिए तो उन सबका वर्णन में आता है कहते हैं कि देखो कि त्रोण तो मैंने कर्कश अचल अमल मन त्रोण समाना मन अब देखो ये मन जो ये तर्कस मान लिया यहाँ पर धनुष के साथ में तर्कस है तो सर्कस में बाहर तो कहते हैं ये सर्कस होना चाहिए तो ये सर्कस मन का सर्कस में दो लक्षण के बताए विशेषण एक अमल और एक अचल मन को निर्मल रखें और मन को स्थिर रखें देखो मन को स्थिर मन चंचल न हो चंचल मन के मतलब हूँ मन राग विराग रहते हूँ मन सोचत है धन का ये जो है तो मन की चंचलता है हम्म। ऐसी चंचलता ना हो ताकत में भी दो गुण इस प्रकार के होते हैं योद्धा लोग अपने ताकत को पीठ के ऊपर बांध करके रखते हैं ऐसे पीठ पर बांधते हैं कि उसका मोड़ा बाएं कंधे के सामने रहे तो दाहिने हाथ को जब उसमें ले जाए कंधे के ऊपर तो वहाँ पार का वो किनारा मिल जाए और ऐसे खींचे तो हाथ में आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ाने छोड़ दें तो उसको लेकर के पीठ में जब बांधते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा रख करके और नीचे वाला थोड़ा झुका हुआ पीठ के साइड में रखते हैं और फिर उसको मजबूती से पेट में पीठ में बांधते हैं ऐसा नहीं कि जब हम धनुष बांध चला रहे हैं उसमें बांध की जरूरत पड़ रही है तब तक वो सड़क नीचे आसमान ले जाते हैं वहाँ जाते कोई नहीं बाढ़ है ही नहीं और हमें वहाँ निशाना लगाना जरूरी है तो फिर वहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा वो इतना कसा बना हो कि ढीला होकर के गिरे गिराए नहीं चोरा मोरा नहीं हो कर्कश ऐसा तो चाहिए कर्कश में भी दूसरा होना चाहिए तो कर्कश ऐसा हो कि साफ हाँ, बाहर जो होता है लोहे की नौकर उनमें होती है और कर्कश के भीतर अगर पानी वानी पड़ा हो मैला वेला हो वो लोहे वाला पार उसके भीतर नोक पड़ती नीचे वहां जाए उसमें लग गई जंग तब तो तक वो पान भी खराब हो जाए तो इसलिए जो है उसको तर्कश को भी साफ रखना पड़ता है ऐसे दो गुण जो तर्कश में आवश्यक है वही दो गुण मन में भी आवश्यक है मन होना चाहिए निर्मल और अचल होना चाहिए निर्मल मन और हम्म, जहां मन की निर्मलता होगी तो जो ज्ञान हम ग्रहण करेंगे जो विचार हम करेंगे तो उसमें शुद्ध रूप से आएगा और जब मन मलिन होगा तो हमारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी विकृत हो जाएगा ऐसा हो जाता है ज्ञान अपने स्थान बड़ा शुद्ध है कल्याणकारी है लेकिन कल से मन में जो ज्ञान आता है हाँ, जैसे सुना काम से मन में पहुंचा तो मन में विकृत मनों में अशुद्ध मनों में वो ज्ञान बिगड़ जाता है अगर किसी से कह दिया कि देखो ये सब एक समान है संसार में सब में परमात्मा सब में व्याप्त है सर्वत्र परमात्मा ही है आ, कहीं कोई भेद नहीं है भेद बुद्धि अच्छी नहीं है सब अपने ही रूप है और कोई स्वास्थ्य व्यक्ति है अहंकारी व्यक्ति है और मन का मलिन है तो ये ज्ञान वहां जाकर क्या करेगा हम्म? वहां जाकर के ये ज्ञान ये हो गया कि किसी का भी धन अवसान कर लो कोई भ्रष्टाचार दुराचार करो सभी ठीक है कैसा ज्ञान विकृत हो गया ज्ञान वो कल्याण करता बजाय उसके लिए हानिकारक बन गया इसलिए मन जो है शुद्ध होना चाहिए जो उदाहरण इस प्रकार से देते हैं जैसे कि मैंने दूध कहीं से दुआ करके लाओ और पात्र हो महिला तो दूध का क्या होगा उसमें पात्र में वो फट जाएगा आप शिकायत करो आज तुम्हारा दूध अच्छा नहीं था वो कहेगा आपके पात्र अच्छा नहीं था हम्म? और भी लोग तो दूध ले गए उनका भी फट गया नहीं पता आपका क्यों तो फट गया अन्य से देखो इसके आपका खराब इसलिए अन्य के लोगों को यही ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका जीवन बदल गया दिव्य पुरुष हो गए महान हो गए यशस्वी हो गए ऐतिहासिक पुरुष हो गए और वही ज्ञान एक दूसरे व्यक्ति ने प्राप्त किया तो उसने अपना आघात कर लिया और अधोगत को चले गए तो इसलिए देखो कि यही यही ज्ञान किस प्रकार से व्यक्ति के लिए कल्याणकारी बनता है कैसा कल्याणकारी बनता है इसके लिए आवश्यकता है मन की निर्मल होने की चाहिए और मन की स्थिर में मन स्थिर तो ज्ञान प्राप्त क्या करेगा ग्रहण क्या करेगा पहले मन ज्ञान जो आता है वो मन के द्वारा आता है फिर बुद्धि में पहुंचता है बुद्धि फिर उसके ऊपर विचार करके संग्रहित करके अपने अंदर रखती है इसलिए कभी कभी मन और बुद्धि को भी आपस में बदल बदल करके भूल देते हैं मन के माने बुद्धि भी हो सकता है बुद्धि के माने मन भी हो सकता है ऐसा बहुत इस डर विभाजन नहीं है इसलिए जब मन कह दिया इसके मन जो कुछ ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे साधन है वो सब शुद्ध और स्थिर होने चाहिए एक तो असल के माने ये भी है कि लक्ष्य भी हमारा सही होना चाहिए उसी में धरता और लक्ष्य में जैसे कोई बाढ़ चलाता है तो लक्ष्य जो है उसके सामने एक दृष्टि से उसके लक्ष्य को देखता है दृष्टि विचलित नहीं होती तो तो उसका उसके ऊपर जब बाढ़ इत्यादि मारता है तो ठीक ठिकाने लगता है और अगर दृष्टि विचलित हो जाए हिल जाए इधर उधर तो फिर लक्ष्य पर नहीं लगेगा इसलिए मन को अचल भी होना चाहिए और निर्बल भी होना चाहिए अचल मन मन प्रोण समाना और समझन नियम सुली मुख नाना और संयम नियम ये सुली मुख के समान है सुली मुख के माने बाहर हम्म। बाणों के बहुत से नाम है, है? बाण है नाराज है नाराज भी बाण को कहते हैं सुली भी बाण को कहते हैं तीर भी कहते हैं नाम उसके इस प्रकार पर्यायवाची हैं और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके विभिन्न प्रकार के बाण हैं उनके लिए भी विभिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये श्री मुख जो वो मुख के माने जिसके की मुख के ऊपर लोहे की जिसकी बाण लगी हो वो श्रीमुख बाण इसलिए ये बाण जो ये है कौन सा ये है कि संयम और नियम हाँ नियम नियम संयम संयम यम नियम ये जो है इसके बाद है अब एक एक में कभी कभी कई कई है जैसे यम है तो यम तो एक है लेकिन उस बार को छोड़ो तो पांच बार उसमें से निकलते हैं है? सत्य हिंसा अपरिग्रह ये अस्थि ये सब इस प्रकार के पांच पांच बार निकलते हैं तो जैसे देखो कि भगवान ने एक बार छोड़ा पहला बार हो गया इसका क्या है जैसे कि एक बार छोड़ा यम का तो उसमें से पांच बार निकल आए पांच बार में से फिर एक एक बार में से फिर उसमें पांच पांच कर कुछ निकल आए सफल हो गए इस प्रकार से देखते हैं कि बाण इस प्रकार के दिव्य बाण है जो दिव्य बाण एक बाण से सफल हो जाता है बाहरी संसारी बाण ऐसे नहीं होते वो एक बार मारो तो देख लो होगा कहीं दो से बाहर होते हैं हमने तो आप तक ऐसे बाल नहीं देखे एक बार पड़ोस उसके सौ सौ बाल हो जाए अरे साहब जब आप देखोगे आध्यात्मिक बालों को देखोगे अपने अंदर से चलने वाले बालों को देखेंगे तब उनमें एक एक बाल में पाँच पाँच बार पाँच पाँच बार के हर बार से पांच पाँच बार और फिर में भी एक एक के फिर पाँच पाँच होकर के सफल हो जाता है उनकी जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे वैसे तो लगता है यम एक है लेकिन जब अध्ययन करेंगे कि यम कितने पाप अब यम का वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे पहले सत्य बताएंगे फिर हिंसा बताएंगे इस प्रकार से एक एक करके बताएंगे तो एक एक बाढ़ के पांच पांच बन गए अब सत्य को बताने लगेंगे तो उसको भी सत्य ही कितने प्रकार का तो हाँ, सक्रिय भी हो मधुर भी हो अपना भी करने वाला हो दूसरे का भी करने वाला हो हम्म, अब उसमें अनेक बाढ़ उसके साथ हो जाएंगे ऐसे करके जब अहिंसा को देखेंगे तो उसी अहिंसा को भी देखेंगे कई प्रकार का अहिंसा का अहिंसा के माने कोई दूसरे के व्यक्ति को शरीर को ही मारना न हिंसा है किसी की भावना के ऊपर आघात करना भी हिंसा है ऐसी बात बोलना कि दूसरे के मन में पहुंच करके पीड़ा पहुंचा दे तो क्या हिंसा है तो ये भी हिंसा होती है हमने किसी कह दिया किसी खराब लग गया तो ये हिंसा हो गई यहाँ साहब ये भी हिंसा हो गई देखेंगे तो कि हिंसा ही माना प्रकार तो ये सब एक एक बाढ़ कई बाढ़ बन जाते हैं इस प्रकार से फिर संयम संयम क्या है कि मन बिना संयम के नियम और नियम कोई नहीं चलते अब जैसे सत्य वचन नहीं है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी के ऊपर अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता तो सत्य का से बोल देगा अगर अपने व्यक्ति के अपनी जमान के ऊपर संयम नहीं है तो प्रिय और मधुर कैसे बोल देगा असंयम व्यक्ति कभी बोल ही नहीं सकता इस प्रकार है कि हमने जो बोल दिया दूसरे के मन को आघात लगा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सही बोल दिया क्यों बोल दिया कि पानी का संयम नहीं मन में बात आ गई जवान से निकल गई बस निकल गई कदम बात क्यों ऐसे बोल दी संयम नहीं इसकी सामर्थ्य नहीं किसी को रोक लो किसी किसी को तो जीव के ऊपर इतना अनियंत्रण है ऐसे प्रकार अन्य का भी है उदाहरण के रूप में कोई जीव की बात कहते हैं ऐसे करके हाथ के ऊपर है पैर के ऊपर है इसी प्रकार से कान नेत्र इंद्रियों के ऊपर अन्यान इंद्रियों के ऊपर है तो इतना असंयम है कि ऐसा लगता है किसी के भीतर ऐसे गुबार ऐसी आंटी ऐसी उत्पन्न होती है मन में और तूफान की तरह से शब्द निकलते हैं मुंह से फिर वो भाव रहता है बोलने के लिए कि उसको लगता है जागरूकता कोई सुना न सुना उनके करा जाएगा बोले चला जाएगा सुनने वाला भाग चला जाए तो भी बोले चला जाएगा क्या मतलब वो तो वही बोल करके जब तक पूरा गुब्बारा उसका भीतर का निकल नहीं जाएगा तब तक उसको जब वो शांति नहीं मिलेगी इतना असंयम होता है तो देखते हैं कि असंयम जब होगा तो ये सब के सब बाहर नहीं चलेंगे संयम तो मुख्य बात संयम से नियम है उसी से नियम है संयम नियम भी मुख नाना और कवच देश विश्व गुरु पूजा और कहते हैं कि उसके बाद वो हो कवच भी चाहिए पहले भाई की बात कही थी कि ये वेद चल वैराग्य जो है वो ढाल हाथ से ढाल पकड़ के तलवार पकड़ते हैं उससे अस्त्रों को तलवार आदि के घावों को उसी के ऊपर रोकते हैं लेकिन शरीर के ऊपर जो बांधा जाता है वो कहलाता कवच और कवच कैसे होना चाहिए अभेद कवच हो अभेद कवच में उसमें आकर के बाढ़ लगे उसके ऊपर कोई कोई व्यक्ति शक्ति चला दे लगा दे भाड़ा मार दे तो उसको ऊपर करके लगे नहीं और उसके गाँव में करे उसको ऐसा है मैंने उसको भेज ना पावे ऐसा जैसे कवच का जैसे गुण है जैसे यहाँ कवच क्या है पूजा जो है वो कवच है पूजा का मैंने सम्मान आदर ये पूजा है और ये पूजा किसकी पूजा विश्व गुरु पूजा मित्र की पूजा और गुरु की पूजा ये दो की पूजा करता रहेगा तो फिर उसके ऊपर संसार के ये शत्रु जितने मुसाफर हैं और दुर्गुण हैं वो अपना संहार नहीं कर पाएंगे वो रक्षा करने वाला है विप्र के माने क्या है ये अन्य तो स्थानों में आ गया है फिर सुरेशमान रखते हैं कि विप्र के माने वो व्यक्ति जो शास्त्र का ज्ञान रखता है और अन्य लोगों को शास्त्र का मार्ग बता सकता है बस ऐसे को आदर करेंगे तो आपको शास्त्र का मार्गदर्शन देता रहेगा वो चाहे स्वयं शास्त्र के मार्ग पर चलता है या चलता है कोई मतलब है लेकिन वो क्योंकि शास्त्र को जानता है अध्ययन किया है और वो बता सकता है कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है तो आप शास्त्र ज्ञान चाहते हैं तो आप कहा काम ढूंढते करोगे शास्त्र आपको मिलेगा नहीं लेकिन जिसने सब अध्ययन कर रखा है वो बता दे अमुक स्थान में शास्त्र में ये बात वहां लिखी है जब से निकाल के बता दी आप जान जाएंगे उसको इसलिए विश्व की पूजा करो उसका आदर करो सम्मान करो उसके निकट जाओ तभी उसके लिए सब प्राप्त होगा और उसका आदर करोगे उसे भाव रखोगे तो फिर काय को ज्ञान प्राप्त होने वाला है आप उससे वंचित रह जाएंगे बस और क्या इसी प्रकार से दूसरा गुरु की पूजा की पहले मित्र की और फिर गुरु की अध्यात्म साधना में मित्र की आवश्यकता पड़ती है इस नीचे वाले खंड में जो धर्म का जो क्षेत्र जो ये है उसमें मित्र की आवश्यकता होती है और फिर जब वो व्यस्त होकर के परमात्म ज्ञान विज्ञान भक्ति उपासना द्वारा परमात्म प्राप्त करने के लिए दूसरी मंदिर में आगे बढ़ता है तब उसे की आवश्यकता पड़ती है हम्म। तो अगर चाहे बिना गुरु के ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे या उपासना और भक्ति करे तो सही सही नहीं कर पाएगा परसों भटकता रहेगा गुरु होगा सही सही मार्ग बता देगा परमार्थ की सिद्धि जल्दी हो जाएगी इसलिए गुरु की सेवा भी आवश्यकता है इस प्रकार से तो विप्र की पूजा और गुरु की पूजा दोनों चाहिए जब कवच बांधा जाता है तो कवच में भी दो चीजें होती हैं एक कवच के भीतर से पहले के कवच के ऊपर से लोहे का दिखाई देता बड़ा मजबूत होगा चीज का जिसमें की बाण वगैरह लगे लेकिन वो लोहे का कवच सीधे सीधी छाती में बांध दिया गया है तो, तो इतना वो लोहा इतने शरीर इतना कष्ट देगा कि आपको बाराम चलाना हो तलवार पर चलाना हो तो आपको वही खोज देगा तो शरीर भीतर का जो आपको जो खाल चलेगी आप ये युद्ध कुछ नहीं कर सकते इसलिए उसके भीतर एक और कवच बांधना पड़ता है वो गद्दा बना करके रुई का गुलगुला पहले उसके भीतर बांधना पड़ता है तब लोहे को ऊपर से बांधो तो वो बना रहे और गद्दे से उसके लोहे की खतरा हाँ, वो बची रहे तब व्यक्ति का इस प्रकार तो जो दूसरा का जन्म हो पहले शनि के ऊपर कवच है वो है मित्र का उसके ऊपर जो लोहे का कवच है वो है गुरु का पहले मित्र की पूजा फिर गुरु की पूजा इन दोनों की पूजा करने से पूरा कवच तैयार हो गया आप अब अभेद हो गया हम्म, और आप कष्ट भी नहीं होगा इस प्रकार से यह कवच अभेद मित्र गुरु पूजा ये हो गया और यही सम विजय उपाय में दूजा भगवान ने कहते बस इतना सब होगा तो यही विजय प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र तरीका है कहते दूसरा तरीका नहीं कहते यही सम विजय उपाय न दूजा इसके समान और विजय प्राप्त करने के संसार शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने और क्या उपाय कोई फूक मारने से थोड़े हो जाएगा कोई आपके हाथों से ढकेलने से थोड़ी चला जाएगा दूसरा कोई उपाय काम नहीं करेगा यहाँ पर जो ये गुण बताए हैं इन गुणों को अर्जित करो तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करो यदि गुणों का आप नहीं कर सकते अपने आप विकसित नहीं कर सकते उनको प्रयोग में जीवन में नहीं ला सकते तो आपके ये संसार जो शत्रु है वो सिर्फ पर सवार रहेगा आप उससे छुट्टी भी नहीं पा सकते इसमें तो कर सका पर मैं असर पे जाके इसमें भगवान कहते हैं सखा जिसके पास उस सका पर धर्म में रख है ये धर्म में रख हुआ धर्म इसी का नाम है अब इससे ये भी पता चल जाता है धर्म कैसे कैसे है धर्म एक व्यक्ति के आंतरिक सदगुणों का संग्रह और उनके अनुसार जीवन जीना ही धर्म है हम्म? धर्म के माने एक अपने शरीर के हिसाब से जाति मान लेना ब्राह्मण शाम मान लेना हिंदू मान लेना मुसलमान मान लेना और मान करके फिर दूसरे लोगों से लड़ाई करना तो तुम दूसरे धर्म के हो मैं तुमको मार दूंगा मैं दूसरे धर्म का ये सब जो बात है जो मूर्खता की बात है अपने शास्त्रों में कहीं इस प्रकार से लिखा दूसरे धर्म के इस प्रकार से इसलिए धर्म का स्वरूप क्या है वो भी स्पष्ट हो तो गया इसमें समझ में आ गया ये ही है किस प्रकार के कल्याणकारी उपयोगी है वो भी बता दिया भगवान ने सखाखर में असर पे जाके जीतन न तो कहूँ रिपुता के और जिसके ने इस प्रकार से विजय प्राप्त कर ली संसार सत्र के ऊपर फिर उसके लिए दुनिया में फिर कोई शत्रु नहीं ये जो जिसको भी जगत कहते हैं जिस जगत में अनेक प्राणी है अनेक मनुष्य है फिर जिसने जो संसार सत्र को विजय प्राप्त कर लिया तो दुनिया के कोई व्यक्ति फिर उसके लिए शत्रु रह नहीं जाता है संसार मनुष्य शत्रु नहीं हुआ करते शत्रु हुआ करता है व्यक्ति का संसार जो कि वो किसी व्यक्ति को आरोपित कर देता था वो शत्रु दिखाई देने लगता है दूसरे पर आरोपित कर देता था मित्र दिखाई देने लगता है कोई व्यक्ति विशेष अपने आप से न शत्रु है न अपने आप से मित्र है ये कहते हैं इसलिए कहते हैं किस प्रकार से जहाँ संसार समाप्त हो गया मैं शत्रु की विद्या समाप्त हो गए धार्मिक प्रकार राजनीतिक खत्म हो गए ये जितने काम क्रोध आदि विकास दूर हो गए अहंकार आदि निवृत्त हो गए अब दुनिया में कौन कहा कौन जितने भी व्यक्ति है उनके साथ में व्यक्ति का व्यवहार होगा तो स्वयं कल्पना कर लो कैसा होगा जब आप इस सपन दिखाई देता निकलेंगे दिखाई देता तो कैसे लगा होगा किससे आप जो है किससे आप मित्रता करोगे और किससे आप सफलता करोगे बस इस प्रकार से हो गया कहते महाजय संसार विपो जिस संसार में बात करें तो वैसे तो महादेव है महादेव जो है जो इस युक्ति नहीं जानता कि संसार चक्र के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए उनके लिए ये महादेव है लेकिन जो इस प्रकार की युक्ति जानते हैं मोर्चाबंदी जानते हैं अपनी सेना इकट्ठी करते हैं इनके ऊपर आक्रमण करते हैं उन्हें तो विजय प्राप्त कर लेते हैं नहीं तो विजय नहीं प्राप्त होती जीत सकते सो भी कहते हैं कि जो शत्रु को जीत ले वो वीर है बाकी क्या वीर बाकी तो सब कहा है अल्लाह को पकड़ा न जाना चिल्ला उल्ला पकड़ा लेकिन सब कायर है वो जो अल्लाह में कहते हैं वो कायर है जो घायल होकर के पलट गए और करा रहे हैं उनकी गीता का चिल्लाना नहीं है उनका कराना है इसलिए कहते हैं महा जय संसार को जीत सके सो दी इसे कोई नहीं आया कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो क्या हो रहा है तो घायल होकर के कराया समझो शक्तिशाली जो कि पछला वो संसार चक्र से आ गया है इसलिए रो रहा है कह रहा है पीड़ित हो रहा है उससे कहो जाए देखो जब क्रोध आता तुम्हारे हृदय कैसा लगता है जलती खाते नहीं जलते यहाँ जलन होती है ये जलन क्या है नहीं पहचान तो पा रहे हाँ? ये संसार शत्रु ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया है अभी मार मार दिया है तो हृदय चल रहा है बराबर ये भी कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है इसलिए तो प्रारंभिक बातें कोई भी अपने हृदय देख ले अपने भीतर देखे तो कोई भी देख सकता है अपना समझ सकता है अब जब योगी को सुख नहीं दिखाई देगा कि आप तो कैसे हमारे हृदय में जला उत्पन्न करके हमको पीड़ा पहुंचाते हैं तो उसके बाद में वृत्तियों का साक्षी और आत्मा और परमात्मा तो सूक्ष्म सूक्ष्म वो कहा देखने वाले हैं बहुत दूर की बात इसलिए प्रकार की जाति का हो जब सुनो सखा मत भी सखा सुनो जिसके पास इस प्रकार का रखो मन देह के जितने अंग है आकर्षक है ये सब जिसके पास होंगे तो बस वही दिल है और वही जो है उसका विजय प्राप्त करता है कर सकता है सुनो सखा मत भी मत भी कह करके विभूषण को भगवान उत्साहित करते हैं हाँ, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे तुम्हारे में ये गुण ना हो तुम में ये गुण है तुम तो मतभीर हो ऐसे प्रशंसा करते रहते हैं सोलह गीता में जैसे देखते हैं भगवान आश्री संपत्ति दली संपत्ति का वर्णन करते हैं और जहाँ आश्री संपत्ति का वर्णन किया तो उसके बाद भगवान अर्जुन को कहना पड़ता अर्जुन से भी अर्जुन डरना मत ये आश्री संपत्ति ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर अंदर हो तुम्हारे अंदर तो दैवी संपत्ति है तुम तो भले व्यक्ति हो धर्म में आचरण करने वाले हो तुम कोई जो निशाचरी वृत्तियां हमने तुमको बता दी वो तुम्हारे अंदर थोड़ा है बता इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये कि देखो ये जो ऐसे भगवान जी कहते हैं विभीषण से कि तुम तो मतधीर हो <clears throat> ये सब इस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हम ये नहीं करें सारे संसार के लिए ज्ञान है तुम तो वैसे ही शक्तिशाली हो तुम्हारे अंदर सारे सदगुण है तुम्हारे अंदर ऐसा धर्म में रथ है है पहले से है वो उपलब्ध तुम्हारे उसी से मुझे प्राप्त होगी तुमको कहते हैं सुन प्रभु वचन विभीषण हर्ष गहे पद कंज तो मैंने इसके बाद विभीषण समझ गए हम्म। सुन प्रभु बचन भगवान के बाणी जब विभीषण ने सुनी विभीषण हर्ष गहे पदकंज ये प्रसन्न होना के माने ये है कि विभीषण को भगवान ने जो धर्म में रथ समझाया बताया वो विभीषण को समझ में आ गया बड़ी प्रसन्नता उनको कि हाँ ये बात वही बात तो दर्शन यही बात है जो आपने भगवान में कही हम हाँ? भी तक धन्य थे थे भ्रांति हमारी निवृत्ति हो गई अब आपने सही सही बात बता दी तो हमारे चित्र में आ भी गई और हम समझ भी गए और फिर भगवान के चरणों को पकड़ लिया उसने विभीषण ने प्रसन्न हो करके कहता यही न समझ उपदेश है राम कृपा सुख पुंज ये बोला ये कहता है भगवान आप तो कृपा निधान है सुख के पुंज है आपने इसी बहाने से हमें उपदेश दिया इस बहाने से उपदेश दिया अब विभीषण तो अभी तक विभीषण को उपदेश नहीं दिया अब ये होता है भगवान भी विभीषण के साथ अब तक रहे लेकिन विभीषण को धर्म की शिक्षा देते परमात्मा की शिक्षा देते तो नहीं दी जब अवसर आया तब दिया तो देखो कभी कभी इस प्रकार का होता है कि जैसे अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण जिंदगी में बने रहे अब कहा युद्ध क्षेत्र का मैदान आया दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी तब भगवान को सीधा कि किस समय अर्जुन को समझाना चाहिए ये जो है वो हो हम्म, कि <clears throat> कब जो है वो हो तो समय शिक्षा देनी चाहिए उसका एक अवसर होता है जब व्यक्ति मोटिवेशन हो कि अगर मोटिवेशन आ गए कि ज्ञान हमें ग्रहण करना है तब तो उसको शिक्षा देंगे काम करेगा जब जो सुनने वाला व्यक्ति है और बताने वाला व्यक्ति है दोनों के मन, मन में बुद्धि में रेफर हो तालमेल हो ट्यूनिंग हो जैसे स्टेशन मिलाते हैं रेडियो का स्टेशन मिलाया तो जब स्टेशन मिल जाता तो उसकी आवाज आने लगती है रिसीव करने लगता है रिसीवर तो रिसीवर जो वो हो जबकि अनाउंस करने वाला बोलने वाला व्यक्ति है उसके साथ में जब उसका तालमेल हो और ट्यून हो तब बोलने वाला बोले सुनने वाला सुने तो उसके चित्र ऊपर वो उसका प्रभाव पड़े सुनने वाले व्यक्ति का बोलने वाले व्यक्ति के साथ ट्यून नहीं है हम्म? तो उसका ध्यान कहीं नहीं है बोलने वाला बताना चाहता है सुनने वाला सुनना नहीं चाहता है वो कुछ और अपने सोच रहा है तो किसके बल की बात है वो कौन ऐसा समर्थ दुनिया में है कि जो सुनना चाहता है उसको भी सुना दे नहीं बना सकते भगवान को नहीं सुना सकते अगर सुना सकते होते तो अर्जुन को पहले सुना देते क्यों ऐसा खतरे का समय जबकि युद्ध का होता उस समय बताने के लिए क्यों छोड़ देते पहले बता देते नहीं बताया जा सकता इसमें समय आता है तभी ये और उसकी स्थिति होती तभी बताया जा सकता है इसलिए कहते हैं भी समय उपदेश है हुए समय विभीषण कहता है जिस प्रकार से आपने हमको शिक्षा यहाँ पर दी आपके बड़े कृपा में भगवान के दो गुणों का वर्णन करते हैं एक कृपा और सुखपुंज सुखपुंज में आनंद सिंधु भगवान राम है ये बात ध्यान में रखें ये भगवान जो बोल रहे हैं ये भगवान कौन है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है वही बोल रहा है और वो कौन वो ही बता रहा है कि किस प्रकार से जीव अपने बंधनों से अपनी समस्याओं से छुटकारा पा करके परमात्मा भाव को प्राप्त कर ले और सारी समस्याओं से मुक्त हो जाए आनंद की स्थिति से प्राप्त हो जाए इसलिए आनंद सिंह भगवान आनंद की शिक्षा दे रहे हैं ये जो संग्राम है दुखों से निवृत्त होकर के आनंद प्राप्त करने के लिए जब भगवान आनंद सिंह ही संग्राम करेंगे तब दुख दूर होंगे तब आनंद की प्राप्ति होगी इसलिए भगवान आनंद सिंधु भगवान और प्रभु कथानुधान जो उन्होंने प्रकाश को बदल दिया कथा की बात पहले बता चुके हैं एक तो है क्षमा कृपा क्षमता रजु जोरे तो कृपा के माने क्या था जब दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देखें कष्ट देखें समस्या देखें तो उसके दूर करने के लिए प्रयास करें तब कृपा है हम्म। तो भगवान ने ऐसा किया देखा जब बीबी चारा इस समय जो वो संकित है निराश लग रहा है तो उसकी उस निराशा को दूर करने के लिए भगवान ने कृपा उसके ऊपर की निराशा उसकी दूर हो गई उसके अंदर विश्वास जागृत हो गया चतुर प्रचार दस अंदर इति अंगद हनुमान अब बस अब इसके बाद ये उपदेश यहाँ समाप्त हो गया अब उसके बाद आगे कथा युद्ध की कथा प्रारंभ हो जाती है उत प्रचार दशक अंदर उधर जो है निशाचर लोग हैं वो तो वो रावण जो है उनको अपने साक्षरों को उत्साहित कर रहा है अन्य शास्त्र लोग रावण की जय जयकार बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए तैयार हैं देखिए अंगद हनुमान इधर अंगद हनुमान इत्यादि हैं ये अपनी सेना जितने बानर हैं उनको सबको उत्साहित युद्ध करने के लिए ललकार रहे की युद्ध करो और सब बानर लोग भगवान की जय जयकार बोल रहे हैं और बोल करके जो है उसको जो है युद्ध कर रहे हैं तो लड़क निशाचर भालु कपि <clears throat> तो निशाचर और भालु कपि लग रहे हैं कल निज निज बल प्रभुआन कल कल निज निज प्रभुआन अपने अपने स्वामी की आन में जय जयकार बोलते हुए या दुहाई देते हुए या कसम खिलाते हुए उनको करते हुए आपस में ये निशाचर लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं दोनों निशाचर के माने ये तो सारी जीवन मनुष्य शरीर के माने क्या है देवासु संग्रह और प्राणियों में नहीं होता ये देवताओं के त्याग में भी नहीं होता गाय बैल बकरियों पशुओं में भी नहीं होता ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जहाँ ये युद्ध क्षेत्र बनता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है ये शरीर जो है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बनता है और फिर इसी में फिर देवासुर संग्राम भी होता रहता है अब इस जीवन में कौन जीता कौन हारा ये तो जीवन के अंतिम समय में जो शरीर छोड़ करके जीव चलने लगेगा तब पता लगेगा तो हारा हुआ सैनिक जा रहा है जो घायल हुआ पड़ा हुआ था मैदान में इस टी शर्ट के ऊपर लाद करके उसे लिए जा रहे हैं लोग बाहर की जीता हुआ व्यक्ति है जो छाती ताने हुए चला जा रहा है निर्भय होकर के आनंद में चला जा रहा है शरीर छोड़ करके किसने किस प्रकार का जीवन जिया है ये निश्चय करेगा बाद में आज युद्ध किस प्रकार से चलता है देखेंगे आगे नान्या रघुपते सत्यम बदा च